परीक्षक जी ने पूछ लिया भगवान का नाम लेकर किसी जीव का उद्धार हुआ तो अब श्री सुखदेव महाराज जी कहते राजा परीक्षक कनौज में अजामिल नाम के ब्राह्मण थे उनका नाम हो उनका उद्धार हो गया भगवान का नाम लेकर भगवान की कृपा से छठे स्तर में प्रवेश कर गए बोलो भक्त वस्त्र भगवान की छठे स्तर में भगवान की विशेष कृपा भगवान हमें यहाँ तक लेकर आ गए आगे भी भगवान हमें ही लेकर जाएंगे छठे स्थल में हम प्रवेश कर गए बोले वो है अजामिया जाति के ब्राह्मण थे अजामिया सुंदर पत्नी पिताजी पूजन के लिए फूल लेने भेजते थे अजामिया जंगल से फूल लेकर आ रहे थे अजामिल ने क्या देखा कि एक पुरुष वेश्या के साथ कुकर्म कर रहा है अजामिल मोहित हो गया अजामिल ने कहा ये वेश्या बहुत सुंदर है मृत देशिया को अपनी पत्नी बना अजामिल ने पत्नी का त्याग कर दिया गोत्र जो ब्राह्मण था उसका त्याग कर दिया माता पिता का त्याग कर दिया वेश्या के यहाँ चला वेश्या के यहाँ गया तो वेश्या तो घबरा गए अरे ब्राह्मण देव आप, आपका कैसे आना हुआ अजामिल ने कहा हमको तो आपसे वरदान चाहिए लो वेश्या ने कहा कि हम तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं और आप ब्राह्मण होकर हमसे आशीर्वाद लेने हैं क्या याचना है आपकी क्या कामना है अजामिल ने कहा हम चाहते हैं आप हमारी पत्नी बन जाइए ने कहा ऐसा नहीं हो सकता मैं मांस का रक्षण करती हूँ मदिरा पीती हूँ धूम्रपान करती हूँ लोगों को ठगती हूँ कुकर्म करती हूँ बोले सब कार्य करे मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़कर आ गया धर्म को छोड़ दिया इसलिए तुम हमारी पत्नी बन जाओ तो अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वेश्या के दफ्तर में चला गया वेश्या से अजामिल के नौ पुत्र हो गए एक दिन की बात थी चातुर्मास का कुछ संत चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए तो जा रहे थे वृंदावन मार्ग में रस्ते में अनोज गांव पड़ गया संध्या बेला हो गई तो संध्या में सन्यासी लोग यात्रा नहीं करते तो आपस में सोचा कि चलो अब यही किसी साधु के घर में सत्संग कर लेंगे आनंद मनाए तो मैं कनौज में गाँव वालों से पूछ लिया किसी महात्मा का घर है या तो लोगों ने मजाक में जामिल का घर बता दिया बोले हाँ ऊंच कोटी के महात्मा चले जाइए भाई खटकाया दरवाजा अजामिल तो घर में था नहीं क्योंकि संतों से देर करता था पत्नी जी आई संतों को देखकर चौंक गई संतों ने कहा माते श्री प्रणाम नमो नरणम महात्मा जामिल का घर क्या यही है पत्नी जी सौ गए बोले आप सबको गलतफहमी हो रही है पहले मेरे स्वामी ब्राह्मण थे पर अब उन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया ये सुनकर महात्मा को दुख हुआ महात्मा ने पेट की तरफ नजर मारी गर्भवती महात्माओं ने कहा देखो हमारी एक कामना है अगर आप पूर्ण कर दो तो हमारी यही दक्षिणा हो जी क्या कामना बोले आपके गर्भ से पुत्र होगा और आप इस बालक का नाम नारायण रख देना वांछा कलपत्र भय कृपा सिंधु भय पति का नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो ये भगवान के भक्त जो पतितों को पावन कर देते हैं कीचड़ की शोभा कमल का फूल बना देता है और संसार की शोभा भगवान के भक्त बना देता है एक चले पत्नी जी ने अजामिल को सब बता दिया लाल किला होने लगा तो पत्नी ने आंखें दिखा दी ठंडा हो समय आने पर बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया नारायण छोटा बालक अजामिल का मोह बहुत था पुत्र नारायण यहाँ आओ पुत्र नारायण भोजन पालो पुत्र नारायण ऐसा ना करो पुत्र नारायण ऐसे करो मेरे पुत्र नारायण ने भोजन कर लिया मेरा पुत्र नारायण उड़ गया इसलिए किसका चिंतन हो गया हम सदा हरी चिंतन हो गया किसका भगवान अठासी वर्ष की आयु हो गई अजामिल की बीमार पड़कर खटिया पर लंबी सांसें खींच रहा यम के दूत आ गए काले कलोटे यम के दूतों को देखकर अजामिल घबरा गया और कहा पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो <clears throat> ये शब्द भगवान बताने में भगवान के दूत चमकीले चमकीले चार आए यम के दूतों को धक्का देकर घूर दिया यम के दूतों ने कहा तुम कौन चार चार चमकीले चमकीले भगवान के दूतों ने कहा हमारी सुनो तुम कौन चार चार काले लूटे यम के दूतों ने मुस्कुरा कर कहा कि हम यमराज के दूत हैं तो भगवान के दूतों ने भी मुस्कुरा कर कह दिया कि हम भी भगवान के दूत हैं भगवान के दूतों ने कहा कि जो लोग भगवान का नाम लेते हैं हम उन्हें लेने के लिए आते हैं यम के दूतों ने कहा जो पाप करते हैं हम उनको लेने के लिए आते हैं तो भगवान के दूतों ने कहा तुम गलत जगह आ गए ये पापी नहीं इसने हमारे प्रभु का नाम लिया यम के दूतों ने कहा आपको गलत फहमी हो इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया पर भगवान के दूतों ने कहा ये बताओ कि इसका बेटा नारायण पहले आया कि हमारे भगवान पहले आया यमदूत बिचारे घबरा गए भगा दिया वहां अजाम लेता लेता सुन रहा है कि मैंने तो अपने बेटे का नाम लिया और ये भगवान के दूत आ गए और वास्तव में यदि भगवान का नाम लेता तो क्या हो वैराग्य हो गया कुछ लोग कहते अजामिल मुक्त हो गया नहीं अर्जुन ने पूछा भगवान से आपकी भक्ति करते हुए अगर कोई संसार से खिसक जाए चला जाए और भजन पूर्ण ना कर सके तो उसका क्या होगा तो भगवान कहते जिनाम सिमनते है योग वृक्ष बुझाए थे मैं उसे मौका देता हूँ जिससे वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाए साफ तो जा रहे थे बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ लोग देखने गए बोले बच गए तो किया गया बच गए तो किया गया आपको मौका देना कुदरत ने काम मरते मरते मरते तो किया गया और जब चांस मिला तो क्या करना चाहिए जिंदगी को नया आगाज करना है और क्या करना चाहिए भगवान का भक्त बन जाना चाहिए यही हमें मौका कुदरत देती है और ये जीव कौन है ये हम अजामिली है माया में फंसे काल हमको लेने के लिए लेकिन कुछ किया कराया काम आ गया और भगवान ने हमें एक मौका दे दिया तो कुछ लोग मौके का फायदा उठा लेते पर कुछ लोग मौके का फायदा नहीं उठाते क्या बोलते चार दिन की जिंदगी है खाने पीने मोजे नहीं चार दिन की जिंदगी कोई चार दिन की नहीं इसलिए जिंदगी में कैसे जीना चाहिए जीना सीखना चाहिए कैसे जिए जीना कोई बुरी चीज नहीं है बोले कैसे जियो जीवन में हर पल जियो अंतिम करके जान अंतिम पल है कौन सा ये कौन सका है जान कैसे जिए साहब आज की जिंदगी जो भजन तब जो कुछ करना है आज कर लो और आज मन कर कर सो जाओ भगवान क्षमा करना कुछ अपराध हो गया अगर कोई मौका मिला तो फिर आगे भजन शुरू कर लेंगे आगे करेंगे लेकिन आज की जिंदगी जिए कल के किसी का कोई गारंटी कार्ड किसी के पास नहीं है तो अजामिल को एक वर्ष का मौका मिला मौका जाया नहीं किया बीवी बच्चों को छोड़ दिया हरिद्वार में चले खूब भजन किया एक वर्ष पूर्ण हुआ अब यही भगवान के पार्षद अजामिल को लेने के लिए आए हैं अजामिल विमान पर बैठ गया महाराज और शरीर से भगवान के धाम को चला गया इसे कहते भक्ति की शक्ति जो मौत ही जीत लेती है कि ऐसे भगवान के नाम भगवान के भक्त और भगवान के पार्षदों को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं यहाँ यम के दूत यमराज जी के पास गए और डंडा रस्सी फेंक दिया हम आपकी नौकरी से रिजाइन देते हैं अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे अरे यमराज जी ने कहा क्यों हमारी नौकरी छोड़ रहे हो तो यम के दूतों ने कहा हम तो पापी अजामिल को लेने गए थे वहाँ नारायण के चार चमकीले दूत आ गए अजाम महाराज यमराज जी दौड़ कर गए और यमराज जी ने यम दूतों के मुंह पर ऐसा हाथ रख दिया करो बोले क्यों अब दो चार मरतबा कोई और नाम ले लिया इन नरक में जो लोग पड़े इनके कानों में चले गया ये सारे तो यहाँ से छुट्टी कर कर चले जाएंगे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा अच्छा महाराज इतनी महिमा कौन जाने यमराज जी बोले कोई नहीं जानता जब कोई नहीं जानता तो यमदूतों ने भी कह दिया की बात भी हो सकती जिसकी कोई महिमा ना जाने अब जिसकी कोई जाने नहीं तो बेकार आदमी भी हो सकता हमको क्या पता कौन है अरे यमराज जी ने कहा ऐसे नहीं हम बारह लोग जानते हैं आइए बारह भागवतों का नाम श्रवण कर लीजिए जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा ये बारह जति है ये बारह भागवत है इनका नाम सुनने से पापों का नाश हो जाता है भक्ति प्रकट हो जाती है कि ऐसे बारह भागवत को हम बारंबार नमस्कार करते हैंगे स्वयंभू नारदम शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनक विष्णु बलीवया सकीवयम बड़ा भागवत है इनके नाम का उच्चारण करने से पापों का नाश होता स्वयं स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी का नाम भी बारह भागवत में आता है तो ब्रह्मा जी को हम नमस्कार करते ये नारद देव ऋषि नारद जी का भी दूसरे नंबर पर नाम आता है बारह भागवत पर बोलो नारद ऋषि महाराज की जय और तीसरे बोलिए हर हर महादेव की तीसरे भागवत श्री शंभो महादेव और चौथे बोलो कुमार महाराज की जय श्री कुमार जी पांचवें बोलो कपिल देव भगवान की जय और छठे श्री मनु जी महाराज जी का नाम आता हैगा और सातवें नंबर बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय भागवत में बारह भागवत में सातवें नंबर पर प्रहलाद महाराज जी का नाम आता है और आठवें नंबर पर बोलो झलक महाराज की जय और नौवे नंबर पर बोलो भीष्म पितामा महाराज की भीष्म जी नौवे नंबर पर आते हैं ये और दसवें नंबर पर परम भागवत का नाम आ गया बोलिए बली महाराज की जय बलि जी की परम भागवत है दसवें नंबर पर इनका नाम आता है और श्री यमराज जी कह रहे हैं ग्यारहवें नंबर व्यास जी यहाँ तक कौन है बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की हम आज से तो धर्मराज जी कहते हैं बारवा मेरा नाम है <laughs> बोलो धर्मराज महाराज की धर्मराज जी क्योंकि हमारा पाप उनका का हिसाब किताब उनके पास है महाराज धर्मराज जी फिल्मों में तो ये लोग कैसे बना देते उनको धर्मराज जी महापुरुष है उनकी बड़ी महानता है हमारा पाप कुल उनके लेखा देखा उनके पास है लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है वो धर्मराज जी भी श्री कृष्ण के दास है और हम उनके दासों के दास रहेंगे तो धर्मराज जी हम पर कृपा <laughs> करेंगे आज हमारे हिसाब को आगे पीछे कर देंगे बोले भाई इन्होंने तो भागवत में बारह भागवत का नाम ले लिया है हमारा भी नाम ले लिया है तो वो अपने नाम से कुछ नहीं होते उन्हें कीर्ति की क्या जरूरत है उनकी तो तारीफ करना सूर्य को दिमक दिखाने वाली बात है लेकिन बाला भागवत में इनका नाम आता है ये पापों को नाश करने वाले इसलिए भागवत महापुराण के बारह स्कंद है कितने स्कंद है बारह स्कंद और बारह अक्षरों के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव की बड़ी महानता बताई गई है और यही परम भागवत श्री भगत है भगवान के हम बारह लोग जानते हैं अच्छा तो प्रभु किसे लेने जाए किसे नहीं लेने जाए तो धर्मराज जी ने कह दिया जो लोग भगवान के भक्तों से वीर करें जो लोग भगवान से वीर करें जो लोग भगवान की कथाओं को श्रवण ना करें भगवान के भक्त ना हो अरे ऐसो को ले ले अरे वहीं से घसीट के टप टप मारते हुए लेकर आना घसीटते हुए लेकर आना और जो लोग भगवान के भक्तों का संग करे भगवान की कथाएं श्रवण करे उनको लेना बोले उनके तो सपने भी मत आना इस तरह से बड़ा सुंदर वर्धन दिया गया हैगा श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजन जब हम मले पर्वत पर गए थे उस समय मले पर्वत पर ही श्री कुंभज ऋषि भगवान का पूजन कर रहे थे जब हमने ऋषि वर को नमस्कार किया और भगवान के नाम की महिमा के विषय में पूछा तो कुंभज ऋषि ने भगवान का पूजन करते करते करते मुझे भगवान के नाम की महिमा में यह जामिल चरित्र बताया और वो मैंने तुम्हें बता दिया अब श्री सुखदेव जी से सुखदेव जी ने परीक्षक को पूछ लिया कि अब तुम और क्या समझा चाहते हो राजा परीक्षक ने कहा भगवान आपने प्रतुजी महाराज जी के वंश को प्रचेता जन तक बताया प्रचेता जनों के पुत्र दक्ष प्रजापति हुए आपने उनका चरित्र हमें नहीं बताया इसलिए आप हमें उनकी कथा कही है श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ये प्रचेता जनों के पिता जो श्री दक्ष दक्ष हुए अरे दक्ष का विवाह माँ अश्विनी से हो गया दक्ष प्रजापति सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे तो अपनी पत्नी अश्विनी के द्वारा दक्ष प्रजापति ने दस हजार बच्चों को पैदा करवा दिया और दस प्रजापति ने अपने दस हजार पुत्रों को कहा जाओ बेटा बच्चों नारायण का भजन करो जब नारायण तुम्हें दर्शन दे तो उनसे पत्नी और बच्चों की कामना करना तो दस हजार बच्चे जा रहे तपस्या करने रस्ते में देव ऋषि नारद जी मिले बेटा कहाँ जा रहे हो बोले नारायण का भजन करने अरे नारद ऋषि खुश हो अच्छा कामना क्या है बोले पत्नी और बच्चे अरे मूर्खो नारायण का भजन कोई पत्नी बच्चे के लिए किए करते हैं नारायण का भजन तो संसार से मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है तुम तपस्या करने जा रहे हो तुम्हारे पास बहुत ज्ञान होगा इसलिए हमारे सवालों का जवाब दीजिए हम बड़े सुंदर सवाल करते बोले बच्चों दोनों ओर बहने वाली नदी देखी बोले नहीं देखी महाराज तपस्या करने जा रहे दोनों ओर बहने वाली नदी को नहीं देखा अच्छा अच्छा विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है उन्हें नहीं देखा भाई विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौशक माया के पति को जानते हो बोले नहीं जानते महाराज अच्छा तो वो बिल जिसमें जाने के बाद लौट कर आना पड़े देखा बोले नहीं देखा महाराज तो बोले क्या देखा तुमने तुम क्या तब करोगे तुम्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं आप बताइए ना बोले एक सर पर बोले क्या बोले हमारा चीले बन जाओ बोले बन गया दस हजार बच्चों को मंत्र भोग दिया केला बना दिया अब उत्तर दे रहे बोले बच्चों दोनों ओर बहने वाली नदी उसे कहते माया एक तरफ से लोग मर रहे एक तरफ से पैदा हो रहे नदी दोनों तरफ ही बह रही विजित्र भाषा बोलने वाला हंस शास्त्र है इसलिए शास्त्र को पढ़कर नहीं किसी गुरुजनों के हाथ के नीचे रहकर ही सीखा जा सकता है लिखा क्या और शास्त्र का अर्थ क्या निकलता है और कौशिक माया के पति कौन माधव ये कैसा विचित्र संसार है आप उठो ना उठो सूर्य देव आपको खड़े मिले समय पर वर्षा हो रही है समय पर गर्मी समय पर सर्दी हर चीज समय पर हो रही है आप थोड़ी कुछ करते हैं ये ऑटोमेटिक संसार है पर इसके मालिक कौन है वो माधव भगवान है और वो बिल जिसमें जाने के बाद लौट कर ना आना पड़े वो है मोक्ष दस हजार बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया भजन में मस्त करके संसार से मुक्त कर दिया दक्ष को क्रोध आया अरे मेरे बच्चों को इसने भिकारियों का मार्ग बता दिया क्योंकि हमारे हमको तो लोग भिकारी कहते मांगते ही रहते अरे हमारा मांगा भी जीव का कल्याण हो जाए किसी अच्छी जगह पर तुम्हारा लगाएंगे इसलिए भक्त तो किसी ना किसी का किसी ना किसी उधार करता ही है लोग बोलते भिकारियों का मार्ग दक्ष ने भी कह दिया मेरे बच्चों को भिकारियों के मार्ग में लगा दिया क्रोध को पी लिया दूसरी बार अपनी पत्नी अश्विनी के द्वारा एक हजार बच्चों को पैदा करा और उन एक हजार बच्चों को भी देव ऋषि नारद जी ने उलझा दिया अब तो दर्श दक्ष के क्रोध का पारा भर गया दक्ष जा रहे देव ऋषि नारद जी के पास नारद जी आ रहे दक्ष के पास दोनों की भेंट हो गई दस आग बुबुला हो गया नारद ऋषि को देखकर अरे नारद तूने मेरे बच्चों को नन्ने नन्ने मेरे बच्चों को कितने बड़े हो गए नन्ने नन्ने मेरे बच्चों को तूने भिखारियों का मार्ग बता दिया मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा तेरा जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा तू घूमते ही रहोगे देव ऋषि नारद जी ने मनी मन में कह दिया धन्यवाद क्यों बेहता पानी रमता जो एक मंदिर था कहेंगे नहीं नाम नहीं कहेंगे ऑनलाइन कथा चल रही है हमने कहा भैया हमारी इच्छा है कि भगवान के चरणों में बैठकर मैं अपने जीवन के भागवत क्या करना नहीं नहीं प्रभु वो कोई और प्रभु यहाँ मैंने भाई फिक्र मत करना कब्जा नहीं करूंगा कब्जा गुरु नहीं हूँ नौ दस दिन दूंगा उसके बाद आप बुलाते भी रहोगे तो मेरे पास समय आपके पास नहीं आ गया कुछ और समझा फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई भगवान घटगटवासी है भगवान से कोई बात छुपती नहीं है लेकिन वो मुझे क्या बुलाएंगे अरे भगवान ने ही चरणों में बिठाकर और वहीं पर मेरी इच्छा को पूर्ण करवा दिया बोलो भक्त भक्त भगवान की बहता पानी रमता जो अपने दास यही इच्छा रखते हैं ना किसी के घर में कब्जा करना है ना किसी के मंदिर पर ना लोगों में यहाँ कब्जा करता आज यहाँ और ये बात मैं आज नाइन्टी थ्री मरतबा कह रहा हूँ अपने दास भी यही है ये घड़ी घुड़ी पड़ा है ऐसे कितने घर हैं जिनको इस अमृत की आवश्यकता है तो आप जाए घर घर जाए इस गंगा को बहाये ताकि लोगों का कल्याण होगा इसी में संत साफ रहेगा पानी अगर खड़ा रहेगा उसमें काई जम जाएगी से एक जगह पड़ा रहेगा उसमें काई जम जाएगी इसलिए भगत आज या कल वहाँ परसों या ऐसे घूमते रहे फैलाते रहे साफ रहेंगे और पानी साफ होगा तो कोई बीमारी होने वाली नहीं है और दूसरे भी शुद्ध होते जाएंगे बोलो दीन बंधु भगवान की जय दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया चाहते देव ऋषि नारद जी बदले में श्राप दे सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया दक्ष को ये बात देव ऋषि नारद जी बहुत भाग अब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए देव ऋषि नारद जी की शिकायत करने के लिए दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके पुत्र नारद ने मेरे बच्चों को संत बनाकर मुक्त कर दिया अब मैं संसार को कैसे विस्तार में लाऊ तो ब्रह्मा जी ने कहा बात सुनिए अब तुम फिर छोरा पैदा करोगे तो दोबारा उनको बाबा बना देगा इसलिए छोरा छोड़ो छोरियों को पैदा कर तो आप दक्ष ने अपनी पत्नी अश्विनी के द्वारा साठ कन्याओं को जन्म दिलवाया साठ में से दस कन्याओं का विवाह यमराज जी से किया इसलिए दस प्रजापति की जो दस कन्या थी वो धर्मराज की पत्निया थी दस प्रजापति की जो दो कन्या थी वो भूत देवताओं को दे दी और जो बाकी दो कन्या थी वे अंगिरा ऋषि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह दस प्रजापति ने चंद्रमा के संग करवा दिया रोहिणी अश्वनी धारिणी कृतिका मृगशिरा भद्रा पुनर्वासु पुष्य अश्लेषा मथा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वास्थ्य विशाखा अनुराधा चैस्य जैसा मूला पूर्व शादा उत्तर शादा श्रावण धनिष्ठा पूर्व पद शत भीषा उत्तर पद रेवती ये सत्ताईस चंद्रमा की पत्नियां हुई रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते रहे छब्बीस को नहीं पूछते छब्बीस गई दक्ष के पास बोले हमने तो पूछते ही नहीं इनको रोग शाही रोग पालिश का जो है ऐसे रोग उनको होने का एक श्राप दे दिया सत्रह कन्या जो दक्ष प्रजापति की थी उनका विवाह कश्यप जी विनीता कद्रु पतंगिनी विनीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया बोलिए श्री गरुड़ महाराज की जय श्री अरुण महाराज की जय महाभारत की आदि परमा में कथा आती है एक समय कद्रु और विनीता ने कष्ट ऋषि से प्रार्थना करी हमको संतान बना महाभारत का प्रसंग है उस वक्त माता विनीता ने दो अंडे दिए उस समय अंडे होते थे और माँ कद्रु ने एक हजार अंडे पैदा किए कद्रु के बच्चे तो पैदा हो गए अंडे फाड़कर शेषनाग कालियानाग वासुकी नाग और विनीता के बच्चे नहीं निकले तो विनीता ने गुस्से में एक अंडा फोड़ दिया उससे एक अधूरा बच्चा पैदा हुआ आधा तो पूरा था नीचे अधूरा था उड़ता हुआ आया बोले माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा तुमने हमको अधूरा पैदा किया जहाँ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम्हारी सोच की तुम्हें दासी बनना पड़ेगा और एक बात और गई दूसरे अंडे की प्रतीक्षा करना वो अंडा ही तुम्हें दासी तत्व से मुक्त करवाएगा उड़ता हुआ सुमेरु पर्वत पर चला गया और यही अरुण सूर्य के सारथी बन गया इसलिए जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले लालिमा नजर आती है तो पहले ड्राइवर नजर आएंगे ना फिर पीछे बेचने वाला नजर आएगा तो अरुण तो ने लाल है बोलो अरुण महाराज की और यही जटायु और संपाति इनके बेटा है अरुण जी और दूसरा अंडा निकला उससे श्री गरुड़ जी महाराज जी निकल गए बोलो गरुड़ महाराज की जय इसी तरह दूसरी कौन सी कद्रू जिन्हें सर्पों को जन्म दिया तीसरी पतंगिनी पतंगिनी ने नाना किस्म के पक्षियों को जन्म दिया यमी ने तितियों को जन्म दिया तितली और तिब्बे होते ने इनको जन्म दिया तीमी के गर्भ से जलस्य पानी के जानवर पैदा हुए शर्मा से सिंह बब्बर से बाघ ये पशु पैदा हुआ सूरबी से जो सातवीन की पत्नी थी कश्यप ऋषि की सूरबी इनसे भैंस गाय ये पैदा हुआ आज भी तमरा थी इसके बाज गीत ये पक्षी पैदा हुए नौवी मुनि से अप्सराएं पैदा हुई अप्सराएं भी किसकी बेटियां है कश्यप ऋषि दसवीं क्रोध वेशा इससे दुंड सुख नाम का सर्प और रेगने वाली ये कीड़े ये पैदा हुए हैं और मच्छर आदि भी इसी से पैदा हुए ग्यारहवीं ईला ईला ने लता यानी पेड़ पौधों को पैदा किया बारहवीं सुरसा से राक्षसों ने जन्म लिया तेरहवीं अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुआ गंधर्व को जो बड़ा सुंदर गाते हैं चौदहवीं काष्टा से घोड़े आदि एक खुर वाले जानवर पैदा हुए हैं और पंद्रहवीं धनु से